और जो ये कहते हैं कि हमारे परवर्तिकार जहन्नुम के अजाब को हमसे दूर रखिए हकीकत यह है कि उसका अजाब वो तबाही है जो चिमट कर रह जाती है